गत कल कथा के प्रथम दिन में कम से कम मैंने तो जीवन में पहली बार वो बात सुनी कहीं पढ़ा भी नहीं था कि शीतल लक्ष्मण जी लक्ष्मण जी को तो हम गर्म ही जानते थे पर लक्ष्मण जी शीतल थे और उनकी शीतलता का अद्भुत प्रभाव क्यों शीतल थे इतने देखने में क्रोधी और ऐसा लगे कि क्रोध में विश्व ध्वंस कर देंगे ऐसे लक्ष्मण जी में कहाँ से शीतलता आई तो वो प्रसंग कल राजेश्वरन जी ने हमारे सामने रखा कि भगवान ने एक बार केवल देखा उनको और वो अपना सारा तेज गर्मी निकाल कर शांत होकर आकर गुरु जी के पास भगवान के पास बैठ गए तो ये जो एक नवीन तत्व उनके जीवन का हमें दिखा हमारे जीवन में भी कभी कभी गर्मी है कभी क्या हमेशा गर्मी ही रहती है तो उस गर्मी से बचना हो और बाहर भीतर के जलन से बचना हो तो उसका सबसे अच्छा उपाय है कि भगवान का स्मरण करें भगवान की शरण में जाएं। अब मैं राजेश्वरन जी महाराज से निवेदन करता हूँ कि श्री लक्ष्मण जी के चरित्र के माध्यम से हमें राम कथा की जाह्नवी में राम कथा की गंगा में अवगाहन कराएं श्री राजेश्वरानंद जी महाराज धन्यवाद